और आमाल की किताब सामने रख दी जाएगी तो आप मुजरिमों को देखेंगे कि जो कुछ उसमें लिखा होगा उससे डर रहे होंगे और वो कहेंगे हाय हमारी खराबी ये कैसी किताब है इसने ना छोटी बात छोड़ी है और ना बड़ी मगर इसने उसका शुमार कर लिया है और उन्होंने जो भी अमल किया होगा वो उसे मौजूद पाएंगे और आपका रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा